प्रार्थना उपासना करते जाना और अपने बच्चे को करते जाना चाहिए आपकी समस्या है इसलिए आपने की शिक्षा आपने की दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा आपने की श्रद्धा सत्यम अक्षय जो संकल्प प्रज्ञा वृद्ध तो वो व्यक्ति एक अधिकारी बन जाता है किसी कार्य के करने में व्यक्ति संकल्प व्यक्त करता है और उस संकल्प के साथ वह अधिकारी बन जाता है अधिकारी बनने के पश्चात वह सम्मान का पात्र बन जाता है उसको सम्मान मिलता है लौकिक व्यक्ति से उसको धन संपत्ति मिलती है उस व्यक्ति को उस व्यक्ति का आदर करते हैं सब लोग उस व्यक्ति को लौकिक व्यक्ति के व्यक्ति धन भी मिलता है ये कोई उत्साह देने वाली चीज होती है श्रद्धा सत्य आचरण और श्रद्धा अभिरुचि उस व्यक्ति की होती है और उस अभिरुचि और सत्य आचरण से सत्यम आते थे प्रकरण के अनुसार सत्य शब्द का अर्थ होगा ईश्वर क्या होगा एक और प्रकरणानुसार सत्य का धर्म विशुद्ध धर्म को प्राप्त करता है व्यक्ति परिणाम एक ही निकलेगा विशुद्ध धर्म को प्राप्त करने से कृष्ण की प्राप्ति भी नहीं रहेगी तो सच्चे ज्ञान ईश्वर का है तो इस प्रकार की श्रृंखला है ये व्यक्ति पहले भक्ति बनता है फिर वो व्यक्ति अधिकारी बनता है फिर उसको उत्साह देने वाली भक्ति सम्मान सब कुछ मिलता है फिर सत्य को नहीं भक्ति को श्रद्धा को प्राप्त करता है श्रद्धया सत्यम श्रद्धा के बाद जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए आज हम किस स्थिति में चल रहे हैं आज का जो हमारा स्तर है वह वस्तुतः श्रद्धा सत्य नहीं है आज का व्यक्ति इस बात को मान के चलता है कि मुझे धन मिलेगा सम्मान मिलेगा इससे आगे नहीं सोच सकता वेदों की परंपरा ऋषियों की परंपरा लाखों करोड़ों वर्षों से चलती आई है इन महान ऋषियों ने किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया कि मानव का जीवन धन कमाने और भोग भोगने के लिए उन्होंने क्या पाठ पढ़ाया जो आपके कोने में लिखा हुआ होता है ऊपर पाठ पढ़ते न वित्तीय न तर्पणीय मनुष्य या नहीं हाँ उस वाली बात मन न कर देना एक हमारे भजनोपदेश जो रोचक कथा सुनाया करते किसी माँ की सुई तो खुई गई घर में घर में बत्ती थी तो कुछ भी नहीं था और जहां खंबा खड़ा था बिजली वाला वहां सुई झूले ले इन्हें पूछा माता जी क्या कर रही कहती भाई वो सुई ढूंढ रही तो कहने लगे सुई कहां सुई थी घर में सुई थी तो घर में तो प्रकाश नहीं है दीपक नहीं है इसलिए घर में सुई मिल नहीं सकती क्यों प्रकाश नहीं है यहां प्रकाश है यहां सुई मिलेगी तो आप मैंने संकेत तो वहां किया था उस पल्ले पाठी बैठ के वहां क्या लिखा है ना विद्य ना तर्पणीय मनुष्य दिमाग से निकाल दो वित्तीय में का अर्थ है धन संपत्ति और भोग हो जाएगा याद क्यों जी याद हो गया वित्त का क्या अर्थ है धन संपत्ति भोग के साधन और उससे सांसारिक भोग दोनों का नाम वित्त है और ऋषियों ने ये कहा न लिखते न तर्पणीय मनुष्य व्यक्ति तू एडी से चोटी तक का जोड़ लगा दीजिए संसार के अंदर पूरी की पूरी संपत्ति भोग एक व्यक्ति को देने पर भी वो तृप्त नहीं होता ऋषियों ने नियम बनाया मैत्री कहती है भाव क्या है याज्ञवलक के ऋषि कहते हैं हे मैत्री मैं अब इस धन संपत्ति को आप दोनों को देता हूं इसका विभाजन करो अर्थात मिलके खाओ पियो जो कुछ करना है मैं अब संन्यास लेने वाला हूं प्राचीन ऋषियों की स्थिति का अध्ययन करो मैत्री कितनी विदुषी होगी वो कहती है आप कहां जा रहे हैं उन्होंने कहा मैत्री सुनो इस संसार में जो सुख की अभिलाषा आनंद की प्राप्ति की इच्छा पूर्ण कामना करने की भावना से को लेके हम चलते हैं या व्यक्ति चलता है वो किसी भी प्रकार से यहां पूरी नहीं हो सकती इसलिए मैं इस गृह आश्रम को छोड़ रहा हूं और आजकल तो ये बूढ़े हो जाएंगे साठ साठ वर्ष के सत्तर सत्तर के घर को ऐसे पकड़े लेंगे जैसे मरी हुई बंदरिया को वो बंदरिया पकड़े रहेंगे बंदरी का दृष्टांत सुना है उसका बच्चा मर गया ऐसा मैंने सुना है नहीं? और मरे हुए बच्चे को चिपटाई घूम रही है मूर्ख घूम रही है ये मरे हुए बच्चे की तरह बूढ़े लोग हैं घर को चिपटाई बैठे रहते बिल्कुल इधर उधर नहीं होते गोल लूगे बैल की तरह चलते रहेंगे डंडा लगता रहेगा तब भी घर को नहीं छोड़ेंगे लुट पिट कर आएंगे आश्रम में कहेंगे अब मुझे अवकाश दो क्या अवकाश दे मैं सेवा करवाना चाहता हूं <laughs> तो बड़ी विचित्र बात है सारी सेवा सारा धन संपत्ति झोंक दिया उनके लिए जो इसे डंडा मार के आंख के निकाला और ये सेवा यहां तरफ से करवाना जाता क्या चर्चा थी कितना ऊंचा आदर्श था इस आर्यावर्त देश का मैत्री कहती है ऐसी बात है आप फिर जाएंगे का को छोड़ के उसने बहुत सी बातें कही सारी बातें कह डाली लंबी चौड़ी कहते ही मैत्रेयी अमृत तत्व की खोज करनी है मोक्ष की खोज करनी है मोक्ष यहां घर में नहीं मिल सकता तो मैत्रेयी कहती है ये जो धन संपत्ति आप दे रहे हैं और इस दुनिया भर की धन संपत्ति यदि मिल जाए यदि एक पृथ्वी वित्तीय न परिपूर्णा शात किम हम अमृता श्याम क्या कहा यदि इम इमे इमा इम का क्या मतलब है कौन सी विभक्ति है इम इम माता अब तो समझ गई माता को तो सुन लोगी कम से कम ईएम माता आर्या ईएम माता कौन सी है बालमती बुद्धिमती बालमती तो चली गई ये भी चली जाएंगी यहां चली गई तो यहीं का संस्कार कर देंगे ये कह के आई थी वहां मेरे बेटे हैं वहां भी तो बेटे हैं वहां मर गई तो वहीं से संस्कार करना मेरा लौटा के यहां नहीं जाना दिल्ली वाली इयम माता इयम विशेषण एश पिता क्या हुआ इयम पृथ्वी स्त्रीलिंग में है ना यदि इयम पृथ्वी दिखते न परिपूर्णाशा क्या बन गया यदि ये सारी पृथ्वी वित्त से परिपूर्ण हो जाए किम हम अमृता श्याम है हे अकेले बच्चे ये दो देवता जी ये बतलाओ ये सारी पृथ्वी धनदानी से भरी हुई मुझे मिल जाए तो क्या मैं वित्त नहीं क्या मैं अमृत तत्व को प्राप्त कर लूंगी ने मेरी क्या कहा नेती धोती नहीं है कि नीति नीति के लिए समझ में अब जिसने सोच सुनाई दिया तो नीति आ जाएगी उसको नीति न इति न इति नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा अच्छा तर्री एक श्याम किम कुरियाम मैं इसका क्या करूंगी आपके लिए धन का मुझे तो वही उपदेश दो जो कि आप इसको प्राप्त बस सारी कथा सुना डाली आत्मा वाले श्रोतव्य ज्ञातव्य ध्यान तव्य और एक और है मंतव्य आत्मा का अर्थ दोनों है ईश्वर और की जीवा दोनों के दोनों जानने योग्य हैं मनन करने योग्य हैं प्रापणीय हैं श्रवण करने योग्य हैं मुझे वो बताओ अंत में वो सारा उपदेश दे दिया ये थी आदर्श स्थिति ये थी वैदिक परंपराएं आज उसको कुचल के रख दिया है विरोधी लोग तो कुचलेंगे क्या अपने ही देश के लोग स्त्री पुरुष अपनी संस्कृति को वैदिक संस्कृति को एक एक उसकी पंखड़ी पाड़ पाड़ के उसको आग लगा करके राख बना दी आप यहां आए हैं ऐसे आपको नहीं रहना है इन सारी चीजों से टकरा करके चकना चूर हो गया इनको करोगे जी इनको करेंगे और वो नहीं हुई तो फिर हम हो जाएंगे और चकनाचूर हो जाने के मतलब हम मरते तो है नहीं एक वीर ने एक बात कही थी वो सुनी सुनाई मैं सुनाता हूं पता नहीं वो अपने अंग्रेजों के राज्य में स्वतंत्रता की लहर चल रही थी और उस समय सुनी हुई बात है उससे पूछा गया था आप क्षमा मांगो और आपको 20 वर्ष कारागार में रखा जाएगा और फांसी नहीं तोड़ी जाएगी इसलिए क्षमा मांगो और अन्यथा आपको फांसी आने वाली है कोई भी बात एक कर सकते हैं उन्होंने कहा तो 20 वर्ष कारागार में मैं रहूंगा और आज मैं फांसी खाता हूं मुझे आज जल्दी से जल्दी फांसी तोड़ो अभी 20 वर्ष में दो बार जवान होकर अंग्रेजों को कुचल के रख दूंगा जल्द से फांसी तोड़ो हम तो इस बात को मानते हमारी सेना माना हो तो आओ नहीं अपना पतना बोरी बांध के फिर मुंह नहीं दिखाना <laughs> यहां कदा नहीं होना है ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं ऐसा करना हो तो वहीं रहना जा रहे थे ये क्या जीवन है आप कैसे सोचते हो वस्तुतः ऋषि की बात याद कर लिया करो मनुष्य का आत्मा सत्या सत्य को जानने वाला है पर वो व्यक्ति हठता दुराग्रह अनेक स्वार्थ प्रयोजन अज्ञानता के कारण झूठ में जुट जाता स्त्री और पुरुष हो एक जैसा आत्मा है यदि पूर्व व्यक्ति प्रयास करता है तो महान बन जाता आप बन सकते बड़े बड़े स्रोत शक्ति के उन स्रोतों को जानना और स्रोतों से लाभ उठाना यह आपको नहीं आता उन्हीं कार ने एक बात कही ये व्यक्ति बेसमझ मूर्ख पागल खेती करने वाले का दृष्टांत दिया पागल व्यक्ति खेती करने वाला कोई है और खेत के हृदय को वो नहीं जानता ऐसे ये मूर्ख व्यक्ति दिन रात भोगों में पड़ा रहता है ये पागल है अक्षेत्र ये हमारा शरीर जीवन रूपी क्षेत्र को जो नहीं जानता वो व्यक्ति मूर्ख की तरह बाहर हाथ मारता है खेती करने वाले का दृष्टांत दिया कल्पना कीजिए खेत में बीस तीस पचास फुट नीचे महान धनराशि विद्यमान को ये व्यक्ति 50 वर्ष तक नहीं छेड़ता दो चार आठ मूल भूमि को फाड़ता जीविका चलाता और नीचे करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को छेड़ता ही नहीं अक्षेत्र के खेत के स्वरूप को नहीं जानता है जैसे वो नहीं जानता ऐसे ये मूर्ख व्यक्ति बेसमझ व्यक्ति ये साढ़े तीन हाथ का व्यक्ति आप और मुझ जैसा ये कहते ये महामूर्ख व्यक्ति बाहर मुंह मारता रहता ये खजाना जो ब्रह्म यहां पर है इसको ये छेड़ता नहीं ये कौन है मूर्ख बताओ है जी आप कम से कम ये तो मान लोगे ना हम मूर्ख हैं या नहीं मानोगे है जी मान लोगे नहीं तो लड़ाई होगी किसकी तरह मैंने उसका पढ़ा था सुकरात का उसको उसी देश के लोग मारने के लिए प्रयत्नशील हैं और किसी ने पूछा कि क्या बात है कि आपके देश के लोग आपको ही मारने के लिए प्रयासशील हैं कारण क्या है उनका कारण केवल एक ही है मैंने अपनी मूर्खता को जान लिया है मैं मूर्ख हूं मैंने स्वीकार किया है पर ये भी मूर्ख है मैं इनको जो मूर्ख कहता हूं ये सहन नहीं कर सकते इसलिए मुझे मान अपनी मूर्खता को जान लिया मैं मूर्ख हूं मैं इनको भी यही कहता हूं कि आप मूर्ख ये सहन नहीं कर पा रहे इसलिए मुझे लिया ध्यान दो उपनिध काल में एक बात कही गई हृदय में अर्थात शरीर के अंदर परमात्मा विद्यमान है उस कोष को व्यक्ति नहीं छेड़ता और ये मूर्ख खेती करने वाले का दृष्टांत दिया है जो व्यक्ति बाहर विषयों में सुख ढूंढता है वो मूर्ख व्यक्ति है इस खेत को नहीं जानता इसलिए महादुखी है और अंदर परमात्मा की प्राप्ति यहीं पर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कंठ के बीच है दोनों स्तनों के बीच में उदय के ऊपर जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा खेत है इसका नाम हृदय रखा इसलिए परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है हम क्या गाते हैं है जी आनंद क्रोत पर जल में रह कर ही मछली ठीक है आप ये सोचते हैं कि स्वामी जी क्यों ये बात बनाते रहते हमको तो जचता नहीं या जचता है अच्छा जचता है तो कल आपके वेशभूषा आकार प्रकार दूसरे दिखाई देने <laughs> एक कथा आती है स्वामी सर्वदानंद जी महाराज की बताते एक नाटक दिखाया गया वो कह सीखे नाटक होता रहा कर रात्रि भर प्रातः काल के चार बज गए साढ़े तीन चार बज गए जो भी शौचालय का समय होता है और वही उन्होंने जो करना नाटक जो खेला रहा था उन्होंने जी का वेश जैसे मेरा अपना हमारा है ऐसा वेश में वो जी के वेश में जी बनकर के नाटक खेलते रहे चार बजे से पांच बजे तो नाटक पूरा हो गया पूरा हो जाने के पश्चात वो जो के तू अपने जंगल की ओर चल पड़े शौचाजी के लिए लोगों ने कहा कि महाराज जी आप तो नाटक के लिए सन्यासी बने थे अब भी ये कपड़े अब दो उतार दो कम से कम सन्यासी के वो कहते भाई हो गया तो हो गया हम माता बुद्धिमती जी को देखें और का मुझे नाम याद सुमित्रा जी को भी देख सकते हैं <laughs> कि वो कहें भाई हो गया तो हो गया आज तो संन्यास में प्रवेश करें तो प्रातः काल आप ऐसे ही दिखाई दे हो गया तो हो गया बात की बिल्डिंग हो गई मन को बदलने में व्यक्ति को हृदय इतना शुद्ध साफ करना पड़ता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का मन देखो सत्य के ग्रहण करने सत्य के छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए जो सत्य प्रतीत हो गया उसको नहीं छोड़ना और जो असत्य प्रतीत हो गया उसको उखाड़ के फेंक देना ये हमारा काम है मुझे तो व्यक्ति सबसे अच्छा वही लगता है ऋषि भी उसी को अच्छा मानते हैं जो व्यक्ति सर्वथा सर्वदा सत्य ही बोलता मानता करता है इसे विपरीत व्यक्ति को ऋषि महान व्यक्ति कभी नहीं मानते ध्यान देना विश्व का स्तर गिर चुका है अति गिर चुका है और गिरता चला जाए अवसरवाद राज्य कर रहा है आदर्शवाद पैरों में कुचला जा रहा है आदर्शवाद और अवसरवाद दोनों की टक्कर रहती है राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनते हैं हम ऐसी ऐसी कथाएं क्यों सुनते हैं एक आदर्शवाद था उसमें यही होता था कि मरण मरणमस्तु युगांतरेवा न्यायात पथ प्रविजंती पदम धीरा ये आदर्शवाद था आज अवसरवाद यह है कि कहीं भी किसी भी स्थिति में व्यक्ति को कितनी झूठ बुलवा सकते हैं उसको कोई धर्म कर्म की चिंता नहीं और जो व्यक्ति सत्य को आगे बढ़ाना चाहता है प्रचार करना चाहता है उसके पीछे लेके लट पड़ते हैं लोग और उसको जीवित नहीं रहने देना चाहते स्वामी दान जी को मार डाला छोड़ेंगे नहीं ये इनका काम ही है अच्छे व्यक्ति को आदर्श व्यक्ति को अवसरवादी कभी जीवित रहना देना नहीं चाहता कभी देख लेना विदेशी लोग जो वेदों को नहीं समझते मोक्ष को नहीं समझते उन्होंने एक मान्यता खड़ी की है सत्य तो बोलो अच्छी बात है व्यवहार में बहुत कुछ अच्छा व्यवहार भी करो पर जहां ऐसी ऐसी स्थितियां हो लाभ होता हो झूठ बोला करो विदेशी लोगों की मान्यता है उन विदेशी लोगों की मान्यता का प्रभाव पड़ते पड़ते आज हमारे भारत देश के ऊपर आर्यों के ऊपर पूरा का पूरा छा गया है और सन्यासी तक एडी से की तरह झूठ बोला जाता है एक आध व्यक्ति को फंसा दो मैं आपसे ये पूछना चाहूं मुझे पांच व्यक्ति एकदम अथवा दस ले लो ऐसे व्यक्ति दिखाओ जो कि कभी भी झूठ ने बोलते हो ने लिखते हो ने मानते हो तो दस का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा पूरे भूगोल में आदर्शवाद इतना दूर चला गया आजकल लोग इतने बहाने बनाते हैं इतने मिश्र बनाते हैं कि विविध प्रकार का तर्क देते हैं कि देखिए झूठ के बिना काम नहीं चलता झूठ के बिना परिवार का पालन पोषण नहीं झूठ के बिना नौकरियां नहीं झूठ के बिना विद्यालय में प्रवेश नहीं झूठ के बिना व्यवहार आदि का कोई काम नहीं झूठ के बिना तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता आप क्या मानते हैं अपना बताओ आप अवसरवादी हैं अथवा आदर्शवादी आदर्शवादी हैं तो किसी के झूठ से संधि मत करो अच्छा खड़ाई करवा लू बुरा नहीं मानना बुरा मानने का खेत नहीं है यहां हाँ या तो सीधी की बात कहो और सुनो आदर्शवादी सर्वथा सर्वदा सत्य बोलता मानता लिखता अज्ञान का अल्पज्ञता से यदि झूठ होता है तो पश्चाताप करता है उसकी स्थिति तो यह है और ये मिथ्यावादी व्यक्ति जिस समय अवसर देखता है उसी समय झूठ का प्रयोग करता है ये दोनों में अंतर है आप बताओ आदर्शवादी है आश्चर्या करो मैंने वो चित्र खींचा है वैसे अब बढ़ना चाहते या हैं आज सुनो आज जो है वो आज खड़ा करो अच्छा चलो जो बनना चाहते हो वो कोई बात नहीं अब ठीक हो गया परिभाषा भी याद हो गई होगी आपको या फिर सुनो पांच कसौटी ऋषि ने लिखी चार मनु ने लिखी इसी प्रकार न्याय दर्शनकार ने सत्या सत्य के जानने के प्रमाण कसौटियां लिखी उनसे पहले जानो सत्या सत्य क्या है ध्यान देना फिर मानो फिर क्या करो बोलो और फिर आचरण करो बोलते समय सत्य बोलो और और जी मधुर मीठा बोलो और हितकारी बोलो और जितनी आवश्यकता हो उतना बोलो और उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध बोलो और अपात्र पल्ले पड़ जाए तो मौन रहे आ गया बच्चे बोलना नहीं आया बोलो आ गया ऐसे सत्य बोला जाता है तो आपने जो हाथ खड़े किए वो हाथ कट जाए भले ही वो घर उल्टा नहीं हटना है <laughs> हम नहीं मानते इस बातों को सीधी ही बात है एक व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी आपने पहले लेख लिखा था आप बदल गए मतलब बदल जाते वो रट्टा लगा रहे भले व्यक्ति संसार बदल सकता है मन ही बदल सकता यदि अल्पज्ञता से कोई बात ऐसी आएगी तो घोषणा करूंगा मैं इसकी मैं पहले ये मानता था आज मैं ये मानता हूं वो कहता आप बदल गए आपने इतना ही देखा आप फाड़ के देख लो नहीं सीखता हो तो अंधे की तरह मत देखो संसार सारा एक और खड़ा हो सकता है पर जानबूझ के ऐसी बातें करना नहीं उदाहरण दे रहा हूं मैं हम नहीं संधि करते किसी अपने झूठ से संधि नहीं करेंगे अन्याय से अपने से कभी संधि नहीं करेंगे औरों की बातों पीछे आएगी पहले अपने अन्याय का घोर विरोध करें उसके पश्चात संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्याय को थोपना चाहे उसको नहीं मानेंगे आदर्शवाद को कुचल के रखा पतंजलि महाराज क्या कहते हैं जाति देश काल समय अनुवाचन्ना सार्वभौमा महाव्रतम आज समय की सीमा वैसे ही नहीं है जैसे कल नहीं है जाओ तो मुझे बता देना हुँ? हम्म? सोने नहीं दूंगा आपको वैसे ही जाति देश काल समय अनुवाचन्ना सार्वभौम महावर्तम ये आर्यों का व्रत आदर्श है इस आदर्श को यदि ढीला कर दिया जाए और इसको हटा दिया जाए तो समाज नहीं टक सकता देश जाति नहीं जम सकते मानव का चरित्र नहीं बच सकता अन्याय नाम की चीज आएगी न्याय नहीं रह सकता ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती परस्पर का प्रेम नहीं हो सकता कितनी बातें मैं कहता चला जाऊं कभी नहीं हो सकती और कम से कम एक हजार आगे मैं बढ़ू तो एक लाख तक कम से कम एक आदर्श व्यक्ति तो होना चाहिए पर जहां तक मैंने देखा एक हजार की बात को सौ के कहूं क्या कहूं हजार तक करोड़ पर पहुंचू ये स्थिति ऐसी दिमाग में बैठ गई पर याद रखना ईश्वर की दृष्टि से जो बात ठीक है वो हमें मान्य है किसी की दूसरे की दृष्टि से बात जो ठीक है ईश्वर की दृष्टि से ठीक है वो मान्य नहीं है ईश्वर को प्रसन्न करना मोटी भाषा में ईश्वर को राजी रखना मोटी भाषा में ईश्वर के अपने अनुकूल करना हमारा मुख्य कर्तव्य है उसके विपरीत हम नहीं चले परिणाम ये होगा निश्चित बात है लौकिक सुख और मोक्ष का सुख दोनों मिलेंगे आपको महर्षि दान सरस्वती जी कहते हैं सत्य से ही लौकिक सुख और मोक्ष का सुख मिलता है सत्य से नहीं मिलता आदर्श को ध्यान में रखते हुए संकल्प लेके चलिए और एक एक बात को लेकर के जो विपरीत है उसको उखाड़िए होता क्या है आजकल किसी को राजी करने के लिए हम काम करते हैं किसी व्यक्ति को अनुकूल बनाने के लिए काम करते हैं किसी से धन लेने के लिए काम करते हैं किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाने आदि आदि इतने प्रयोजन रहते सत्य की रक्षा के लिए किसी के साथ हमारा संधि और प्यार प्रेम नहीं रहता दृष्टि बदल जाएगी ईश्वर के अनुकूल काम करेंगे हम ईश्वर की दृष्टि को देखेंगे उसके पीछे दृष्टियों ऋषियों की दृष्टि को देखेंगे और फिर किसी व्यक्ति से बात करेंगे यदि वो व्यक्ति इसके अनुकूल है हम उसके साथ हैं यदि नहीं है हम उसके साथ नहीं आदर्शवादी यही करता है महर्षि दान सरस्वती जी पर जो श्रद्धा इतना विश्वास हुआ वो निश्चित ने उनके सत्य आचरण से सत्य लेखनी से हुआ वैसे तो ऋषि लाखों आदि से लेकर के लाखों ऋषि हुए सभी इसी प्रकार के ऋषि थे कोई ऐसी बात नहीं समझे कि महर्षि दांधी सब कुछ थे सभी ऋषि एक जैसे ये परंपरा के ऋषि उनके प्रतिनिधि के रूप में कह रही इन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कह रही जो कि इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं उन्हीं बातों को मानता हूं जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि तक मानते आए मेरा नया मंतव्य चलाना कोई उद्देश्य नहीं है हमने सिद्धार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को पढ़ा एक एक पंक्ति एक एक शब्द ऋषि का यह कहता है ये कहता हां हम यही करेंगे इतना ही नहीं हमने इतने प्रयोग किए हैं अच्छे से अच्छे विद्वान सन्यासी जब पढ़ाते थे हमको हम पढ़ते थे और कोई बात यदि ऋषियों से विरुद्ध पढ़ा देते थे या बोलते थे तो तत्काल रोक देते थे पढ़ाने वाला नाराज हो रहा है अनेक घटना एक अपने स्वामी जी महाराज पढ़ा रहे थे एक बार और उसने ऐसी प्रशंसा की गृहस्थ की प्रशंसा का निषेध नहीं है वो सबके लिए कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में दूर जाना चाहिए और बड़ा आनंद है बड़ा अच्छा है हम जानते थे कि ऋषि क्या कहते हमने कहा स्वामी जी महाराज महर्षि राम सरस्वती ने यह लिखा है जैसे रोगी के लिए औषधि की वैद्य की आवश्यकता होती है ऐसा एक साधन में अच्छा कहां लिखा है ये देखो ये लिखा है वो चुप एक भी बात ऐसी आई गुरुजनों की हमने कहा बात बिल्कुल ठीक है पर ऋषियों के विरुद्ध मानने के लिए तैयार नहीं हम फलित ज्योति सच्चा है एक विद्वान पढ़ा रहे हमने कहा आचार्य जी ये फलित ज्योति को महर्षि ने झूठा माना गणित को सच्चा माना वो बेचारे चेक मन से हृदय के थोड़े से दुखी दुखी होकर रोने लग गए सहन शक्ति नहीं थी ना आशा हमने कहा हम नहीं मानेंगे कई बार ऐसी दुर्घटना हो जाती भाई ऐसी घटना हो तो झूठ बोल देना भाई हमें हमें हमें हमें तो ये सहन नहीं कर सकते ज्ञानेश्वर जी की कथा सुना दूंगा क्यों जी ज्ञानेश्वर जी आज सांसारिक व्यक्ति है आध्यात्मिक या बीच में बैठे हैं हम्म? कहां दिखते हैं आपको है जी आप भी डरते हो गए और ये सोचते हो कि भाई क्या करें या यूं कह दो ना सीधी इसी बातों की देख जी पहले प्रयोग करते थे स्वामी जी मुझे पता नहीं सीधा झंझट दूर हो जाएगा आपने क्यों फंसे क्यों जाल में फंसो कुछ न कुछ कहना ही पड़ेगा आप थोड़ा ही एक बार की कथा इनको प्रेरित किया था आप जाओ कालवा गुरुकुल में घटनाएं होती रहती है लगातार ऐसे ऐसे होती रहती थी एक बार ऐसे आया पत्र में कि देखो स्थिति ये हो गई है सत्य बोलो तो गुरुकुल छोड़ो और झूठ बोलो तो गुरुकुल में पढ़ो मैंने कहा कि आज ही छोड़ो गुरुकुल एक अक्षर नहीं पढ़ना सब कुछ छोड़ सकते हैं झूठ नहीं बोल सकते छोड़ो गुरुकुल यदि झूठ बोलना ऐसा है ये सहयोग देते थे अपने गांधी जी का कोई विभाग था या कांग्रेस का था आए गुरुकुल छिद्दर में प्रबंधक अधिष्ठाताओं ने कहा कि आप ये कहो मैं हरिजन हूं ये लिख दो छात्रवृत्ति मिलेगी मैंने कहा मैं हरिजन नहीं हूं मुझे नहीं चाहिए छात्रवृत्ति सारे नाराज हूं ऊपर तक मैंने कहा मुझे हरिजन कौन कहेगा मतलब तो आ रही हूं हरिजन हुई नहीं तो लिखूंगा कैसे सारा बिल्कुल कांपता था स्वामी उमानंद जी से बस पूछो बस वह कथा लंबी है पर ये ईश्वर की उपासना ऐसी थी कि कभी कांपने की बात ही कुछ नहीं स्वामी जी के सामने कहना जो कुछ कहना स्वामी जी नाराज होते हैं होते रहे बिल्कुल सल्ली नहीं की इसलिए बेचारे दुखी रहते मुझे जरा कभी नहीं मानता मैं मुझे झूठ बात को बल्कि कोई गड़बड़ होती तो लिख के देता उनके सामने कहता आचार्य जी आपके देखो ये ऐसा ऐसा हो रहा है <laughs> कहते किसने बताया इसको उसको ढूंढ दे देखो उनका फलाने ने बताया सारी बात जो की जो ये मतलब बुद्धि में बैठी ना इनकी कोई भी दोष हो कोई इनके मुंह पर कम बैठी जैसे नाराज हो चेहरा गृहस्थियों के साथ में राजा था प्रताप अध्यापक जी बैठे अब बताओ कभी ऐसा हुआ हो तो कि भाई यूं सोचने माता जी बड़ी सेवा करती है इनसे माता जी को नहीं कहो कि माता जी कभी हुआ कभी जो भी बात आएगी उसको वैसा का वैसा कहना चाहिए वो नाराज होते राजी ये इतनी कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कोई ये न माने ये न जाने ये तो कहने की बातें व्यवहार की तो है ही पिछले दिनों में लोग कहते थे आप तो वैसे व्यक्तिगत सत्य बोल देते हो और कई संस्था चला के दिखाओ गुरुकुल अब हमने ये संस्था चलाई वो गुरुकुल सुंदरपुर है हम तो वही आदर्श के रूप में चलते हैं संस्था चलाते हुए को देख लो आप ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं याद रखना कि ये असंभव बात हो ही नहीं सकती संभव है उचित है इसका पालन किया जा सकता है पर ये जो स्थिति है आध्यात्मिक योगाभ्यास यम नियमों का पालन आदर्शों को लेकर चलना इस प्रकल्प की उपासना करते जाना ये व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य जब होगा तब इसके ऊपर चल पाएगा बात इतनी अधिक है मैं कई दिनों तक तो भी सुनाऊंगा पूरी होने वाली तो है नहीं पर जितनी सुनोगे उतनी कर लोगे या नहीं आज भारतीयों का दिमाग इतना खराब हो गया है वो विदेशी बन चुके हैं पूरे के पूरे भारत की संस्कृति अपनी भाषा अपनी परंपरा सारी उन्होंने विदा कर दी है और बची हुई को वो समाप्त करना चाह रहे हैं छोटे छोटे बालक बालिकाएं पांच वर्ष की स्थिति में आपने देखा प्रारंभ में उसको अंग्रेजी रटाते हैं अंग्रेजी भाषा में बोलना अंग्रेजी लिखना अंग्रेजी विदेशी तैयार करना अपनी भाषा नहीं आती न बोलनी आती न लिखनी आती संस्कृत की तो बात दूर रही और भेदू दिए जाते हैं भाइयों बहनों यदि अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो गुजारा नहीं होना अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो अधिकारी नहीं बन सकते कार्यालय में काम कुछ नहीं मिलेगा बीस बातें कहते चले जाते हैं और लोग कहते बात बिल्कुल ठीक है अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा ये इतने अनर्थ करते हैं ये लोग इतना अज्ञान है लोगों के अंदर इनको कोई लज्जा नहीं आती दिमाग इतना नहीं रखते क्या जो देश अंग्रेजी नहीं पढ़ते उसको पीछे देखते हैं पहले अपने देश की भाषा रखते हैं क्या वो सारे के सारे गुलाम हैं गरीब है निर्धन है कंगाल है अवैज्ञानिक है ये भारत के करोड़ों लोग मूर्खता को लेकर जी जापान में जाके बोलते तो इनको डंडे से बाहर निकाल दिया जाएगा मार के अपने क्षेत्र में अंग्रेजी नहीं आ सकती प्रधान प्रधानता अपनी रहेगी अंग्रेजी वाला पार हो जाएगा वहां से और वो जापान जहां तक हम सुनते हैं विज्ञान के ढंग से और ठीक तरीके से अमरीका जैसे देशों का मुकाबला करने को तैयार है और अंग्रेजी इसका कोई मुख्य भाषा नहीं है अपनी भाषा है अनेक देश ऐसे मिलेंगे आपको अपनी भाषा है ये व्यवहार के लिए अंग्रेजी पढ़ दो इसका कोई विरोध नहीं है उनसे हमें व्यापार करना है उनसे हमें काम लेने देने हैं ये पीछे के स्थान पर अंग्रेजी आए और भाषाएं आए इसका विरोध कुछ भी नहीं है आश्चर्य की बात यह है कि जहां अंग्रेजी भाषी है वहां भी अंग्रेजी में अंक अंग्रेजी में अक्षर अंग्रेजी में चिट्ठी पत्री अंग्रेजी में कार्य एक एक अपने देश की भाषा में कार्य कोई करने लगे तो उसका गला घोट दिया जाता है ये ये तमाशा भारत में हो रहा है आदर्शवादी लोगों है तैयारी कुछ है हम इसको सारे को उखाड़ के फेंकें क्यों जी तैयार होना या नहीं होगी गृहस्थी लोग पहले तो स्वयं तैयार होना जो अपने विद्यमान बेटा बेटी है उनको तैयार करना और जो नए गृहस्थी जाने तो पहले से योजना बनाओ एक बेटा कम से कम एक बेटी ऐसे बनाएंगे इन न्यायों का नाश करके उखाड़ के ये गृहस्थी में जाए वैसा वर्त ले लो पहले से ही पहले से संकल्प लो हम ऐसा पुत्र पैदा करेंगे ऐसी बेटी पैदा करेंगे जो सत्यानाश कर दे दोस्तों तो का करोगे या नहीं करोगे इनको हिसाब किताब का कोई पता नहीं हो गया तो हो गया गृहस्थी बन गया क्यों बन गया बन गया जी और दुनिया बन रही है इसलिए बन गया अब भले व्यक्ति तो सोच रहता और वेद का मंत्र क्या कहता है माताओं के लिए है कौन सा है नहीं पता मैं भी भूल गया और आप भी भूल गए है जी है जी नहीं एक माता घोषणा करती है यहां वो क्या घोषणा करती है मम पुत्र शत्रु है क्या पाठ है यही होगा हाँ मम पुत्र शत्रु हण शत्रु को कुचलने वाले हैं द्विता में विराट मेरी द्विता बेटी देवी प्रेमानुगुण वाली होगी और मेरा बेटा शत्रु का नाश करने वाला होगा और मैं भी कमजोर नहीं हूं वो ऐसा मंत्र है जो का जो तो जितने जवान हैं माताएं बहने तैयार हो जाओ हम ऐसा बेटा पैदा करेंगे शत्रु का विनाश करने वाला होगा बेटी भी ऐसे ही पैदा करेंगे बोलो या तो जाओ मत करे तुम्हें जाओ तो ऐसी संतान बनाओ बताओ कौन सा फैसला करो जाओ तो यही काम करना नहीं तो मत जाओ या तो सन्यासी बनो और गृहस्थी बनो तो ऐसे बनो और तीसरे नंबर पर तुम कुछ भी नहीं बनना जो कि तुम चलते रहो कोल्लू के बैल की तरह अपना जीवन निर्वाह कर लो ये संकल्प लेके चलो देखो मैं सोचता था मैं ऐसा मानता था आज की बात नहीं गांव में रहते समय योजना बना के चलता था और ये योजना बना के चला था कि गुरुकुलों में जाके पढ़ूंगा और दूसरे को ब्रह्मचारी बनाऊंगा योगी बनाऊंगा विद्वान बनाऊंगा ये योजना बना बना के मैं चलता रहा पर दौर्भाग्य ये रहा कि हमको कोई पढ़ने का समय नहीं मिला भोजन वस्त्र का पर्वत तो कुछ नहीं पढ़ाने वाले गुरु भी ऐसे ही नहीं धक्का देते देते धक्का मारते गए हम पढ़ते गए धक्का मारते गए धक्कम धक्का होकर के <laughs> तो धक्कम धक्का होकर के भी इतना काम कर दिया बस मैं तो ऐसा जानता मानता हूं ऐसे ही आपसे आशा रखता हूं बह आप क्या सोचते हो मुझे आप समझ नहीं पाएंगे क्यों या समझ लोगे थोड़ा बहुत तो समझ लोगे कम से कम है कोई मुझे पीटने लगे और आपको कहे तुम भी मारो ये तो तुम्हारी पिटाई होगी उसमें मुझे पत्थर मारोगे या नहीं आप है जी कहते पत्थर तो नहीं मारेंगे फूल मारेंगे क्यों बोलो या टकराओगे उस मरवाने वाले से अब कम से कम फूल भी मत मारना <laughs> तो ये जो भावना है जो मैं आपको सुनाता हूं उसको याद रखिए अच्छी तरह से मैं इस स्थिति में रहता हूं ईश्वर की उपासना योगाभ्यास ऋषियों की परंपरा को मानता हुआ मुझे कोई किसी मकान की आवश्यकता कोई भोजन वस्त्र मुझे अच्छा मिल जाए मुझे कोई इच्छा नहीं है और मान अपमान की बातें बिल्कुल नहीं है इसी रूप में कोई स्तर को आप सोचिए मैं कहीं भी रह सकता हूं पर बात तो यही है एक साधक ने पूछी थी अजमेर में आपको जब योगाभ्यास में आनंद मिल गया आपको उपलब्धियां हो चुकी हैं आप किन झगड़ों में पड़ गए विद्यालय चलाना ब्रह्मचारी बनाना अपने आनंद में रहो मजे करो मैंने कहा कि यह सहन नहीं हो सकता मुझे आनंद मिल गया मैं आनंद में हूं ठीक बात है मुझे आनंद मिला हुआ पर मैं आनंद में और दुनिया को दुखी देखो ये नहीं हो सकता बस मैं इसीलिए इस काम में लगा रहा और मैं दुखी नहीं हूं कभी सोचो स्वामी दुखी हो रहे <laughs> ये भी मत सोच रहा सुखी रह जाओ ऐसा करता हूं दुखी होकर काम करना हमारा धर्म नहीं है पर अकेला सुखी रहना दुनिया को दुखी देखते रहना हमारा धर्म नहीं है परमात्मा आनंदित है और को आनंद आनंदित बनाना चाहता है हम उसके पुत्र हैं हम आनंदित हैं और को आनंदित बनाना चाहते हैं क्या सोचते हैं लोग वो सोचते हैं ये ऐसे ही होंगे जैसे कि भाई मान प्रतिष्ठा ये बिल्कुल नहीं हम हम समझते हैं भारतीयों को और विदेशियों को वैज्ञानिकों को हम ब्रह्म विद्या सिखाना चाहते इतनी लंबी चौड़ी योजना है अब जितनी होगी ये पूरी होगी इसलिए संकेतों से बातों को समझते चलिए और ऋषियों की परंपरा के अनुसार सोचते सोचने का ढंग बनाइए संगठन बनाइए अपने बेटे पोते को तैयार करो पड़ोसियों को तैयार करो युवक संगठन बनाया रखा अपना अच्छे अच्छे जितने भी हैं वो संगठित रहें युवकों में ये भावना प्राय कम होती है वो अपना काम करता है वो अपना काम करता है एक ही नगर में बीस युवक रहते हैं वो बीस युवक एक विचारधारा के होते हुए संगठित नहीं है और बुरे लोग उनकी अलग अलग पिटाई करते हैं यह आश्चर्य की बात है अच्छे लोगों में संगठन नहीं है प्यार नहीं है मिलके नहीं चलते तो परिणाम यह होता है कि बुरे लोग उनको मिटा देते हैं हटा देते हैं और उखाड़ के फेंक देते हैं संगठित रहना सीखो संगठित रहने में दूसरे के लिए प्यार सेवा भाव सहन शक्ति निर्भिमानता सत्य व्यवहार ये करने पड़ते हैं संगठन होगा यदि त्याग नहीं है अभिमान है सहन शक्ति नहीं है चिकड़ा स्वभाव है सत्य नहीं है छल कपट है पुरोकार नहीं है स्वार्थ है तो संगठन नहीं जम सकता अब विराम तो देना ही पड़ेगा मैं थका नहीं हूं अभी अब तो मैं इतना स्वस्थ नहीं हूं और आपको रोगी तो नहीं दिखता ना कहीं वो ಆದಾನೆನೆ ಕೂತ ಚರ್ಮುನೆ ऊन तो नहीं दिखता मैं है जी आपसे तो हूं भी नहीं वैसे नहीं एक अध्यापक से मोटे तगड़े पहले पहलवानी भी करते थे और हम गुरुकुल में दंड बैठे भी मारते थे मोटा शरीर उनका अधिक था तो क्यों लड़के क्या ब्रह्मचारी है अब देखो मैं कितना मोटा हट्टा कट्टा अंग्रेजी होता हूं अभी वो कई जने हट कहते रहे कहते रहे कहते रहे मैंने कहा जावेद जी ठीक है आप इतने तगड़े पहलवानी भी की होगी चलो थोड़ा सा अखाड़े में आकर के थोड़ा सा कुश्ती उस्ती कर ले तो मैं जानता था मोटा व्यक्ति है मोटे व्यक्ति में हाथ बाजे तो कचुमुट निकाल दे बिना हाथवा इसको डाल देना चाहिए क्यों माता जी नींद तो नहीं आई तो हम तो जानते थे कुश्ती भी सीखी है मैंने कभी आप सोच रहे हो ये विवेक जी थे या कितने थे तीन या कितने थे सारे के सारे तो बता दिए थे मैंने वहां <laughs> आंध्र प्रदेश में वडलूर में वही मैंने क्या किया हमने तो वो थोड़े मोटे मोटे कुश्ती भी सीखी थी उस मोटे व्यक्ति के पहले हाथ में आ जाए तो मुश्किल पड़ जाए झटाझट मैंने उसको हाथ से रोका और ध्यान <laughs> डाल दिया कहने के देखो जी ब्रह्मचारी जी जा हो गया मेरे साथ दूसरी बार आओ मैंने कहा दूसरी बार आ जाओ दूसरी बार फिर पटक दिया उठा फिर कहने का बिल्कुल ठीक बात है ब्रह्मचारी है तगड़े भाई ऐसे तगड़े बनना है बैरागी जी की तरफ पतला दुबला दाढ़ी दाढ़ी दिखाई दे ये ऐसा नहीं था इन्हीं की तरह का इनका नाम इसलिए याद आए कि वो थे प्राकृतिक वाले प्राकृतिक वाले वहां भाग ले लिया उन्होंने मध्य प्रदेश में शिविर में रोज आते और कहते देखो स्वामी जी मैं घी दूध भी नहीं खाता कितना अच्छा काम करता हूं ना थकान आती है ये करता हूं और घी भी खाते और दूध भी खाते तो भी इतना नहीं कर सकते मैंने कहा ये तो मानेगा नहीं तो क्या हुआ दयालु जी मुझे इसलिए याद आए दयालु जी बुरा मानेंगे तो उल्टा हो जाएगा हम तो शिक्षण ऐसे ही देते हैं नाम ले लेते तो मैंने कहा ये मानने वाला नहीं है ऐसे खड़े थे अपने आचार्य सत्यानंद जी मैंने उसको पकड़ा और दबा दिया दबा दिया तो उस फुटाने का प्रयास किया जैसे उसने प्रयास किया वैसे और दबा दिया और किया तो और दबा दिया राम से भूमि में पेट के बल से पड़ गया कुछ चोट लगी और सच करने लगा मैंने कहा देखो प्रकृति के वालों का बल और घी दूध वालों का बल तो इसलिए ये जो जीवन है ना ऐसा आजा जीवन ये किसी काम का नहीं हमने ये सुना है आपने भी सुना होगा ये दिपि ये बात दूसरी है किसी में दोष गुण होते उस दृष्टि से नहीं बोल रहा ध्यान देना जिस व्यक्ति का संकल्प और मनमिटने के लिए तैयार है हजारों लोग उससे डरते हैं एक लेखक ने लिखा था जिसमें अंग्रेजों का राज्य था तक कला करने वाले बहुत पसीना पसीना कर देते थे लोगों को धारावाही भाषण देने वाले उफान लाने वाले भाषण देते थे देते देते प्रभाव किसका पड़ता था वो